in this डिटेल्सको जानकारी ሀገርና አዋማ ፕሪታምን ጀምሮ አራስሎ ታካፖ ተስተሮ አፖያጂ በግድ ጀሰነ አዋማ በግድ ፕሪታም ሳቲን ካን በግድ ጀሰመና ያደረሰነ ፕሮግራም ጂ ዲቴልስ ያካሽዋን ጂ ስንግ ሰርሰህ ያርሹ በግድ ፕሮግራም ጀምሮ አባስ ብዶ रसायन पेशा बसरोद राय कौशिक राय जी भारत जा मॉरिशस सां लंबे अरसे का वीजा लगा पा रहे हैं ये बेटी मुल्क मगरबी भारतीय महासागर में आहे इन कारण ऐतिहासिक आदमशुमारी सकाफ़ती लाॻापा ऐं ख़ासि रिश्ते में मुख्य कारण उहो पिणु आहे की उतां जी वेटिक आदमशुमारी जी हिकु ढाई ॿ मिलियन आदमशुमारी में सतरि सैकड़ो भारतीय हैं मॉरिशस जो वेटिंग मुल्क अॻु में ब्रिटानिया ए फ्रांस की बैठ की कॉलोनी हुई तय से ब्रिटानिया से उन्नीस सौ अठहठि में आज़ादी मिली फ्रेंच हुकूमत तय साल सत्रह सौ उणटीह में पहिरियों भारतीय उतरे मॉरिशस में आना गया से आना गया पुडुचेरी इलाके से जेके होते हैं आर्टिस्ट एंड नेशनल प्रोग्राम करना तो ब्रितानाबादकी हुकुमतदार दौरान लगभग अध मिलियन भारतीय पर्यटन के उते मॉरिशस में लोगों अरिड़हं सौ चोटीह खां वठी करे उणिवीह सौ जे शुरूआदारे ताईं अबाणा हिसो उते बहमा तौरु सेटल थी वियो वर्करनि जे कमु कंदड़ पर्यटन जे पहिरें खेप दैनिक छठी मनवा से मॉरिशस में पापाना लामबर्ग ने आसर चोटी में जंहिं जहाज़ में पहुंचा है जहाज़ जो नालो हो एटलस और नहीं कि अभी मॉरिशस में अप्रवासी दिवस करे मनाया गया है मॉरिशस एक अहम मुल्क है जंहिं सां भारत आज़ादी का अॻु में मक़बरी रिश्ता बरपा किया साल उन्नीस सौ अठतालीस में जो बेटी मुल्क थे उन वक़्त ताईं आज़ादी न मिली वक्त जो भी जीपीएमओ बरतानवी हुकूमत तहत मॉरिशस में भारतीय कमिश्नर का हो उन्नीस सौ अठेतालीस में आते उन्नीस सौ अठहठ में जॾहिं मॉरिशस के आज़ादी मिली तंहिंखां उते उणिवीह सौ अठहठि खां पोइ आज़ाद मॉरिशस में हाई कमिश्नर खे बर्पा कयो वियो ॿिन्ही मुल्कनि मंझि अक़ीदे ऐं बाहिमी सरगुजा लॻा पिया तो आहिनि त पतो थो पए की बाक़ाइदा ऊची समुझ सियासी love yourself all of consuming. पावन रिक्वायर्स वाई और सुरक्षा भाईवारी में तरक्याती भाईवारी सका के अगड़ आलमी फोरम में सहकार बारे में तकनीकी इमदाद है पहले भारतीय नाम के मॉरिशस में डिपुटेशन पे मोकले हुआ है और भारत जी इमदाद साधारण तरक्याती कल मिलेगी मान സഖാവത്തി മാഞ്ചാമാണ് സലകപ്പ ഭാരത मॉरिशस में जी तमाम बड़ा बेसिक चीजें जो होते पहली मिसाल है मॉरिशस में इंडियन कल्चर सेंटर बर्पा किया हुआ है जो कि भारत जो अलग घर में वनीमेड और सकाफती मरकज है यहाँ होता वर्ल्ड हिंदी सेक्रेट तो बर्पा किया हुआ है जी हाँ, हिंदी के आलम घर में वधारे वाले टाइम में मॉरिशस के इंदर निंदर भारत पहला मुल्क रहा है strategy tazo COVID-19 bo'ron doim musolada tazi वकाशी ऑयल स्पिल दौरान पड़ा वर्ष से अर्जते भारत तेरह टन दवाओं मोकलियों अठारह टन आयुर्वेदिक दवाओं इनके अलावा कोविड नाइन्टीन महामारी दौरान Indian rapid response medical team पर मोकली अप्रैल मई दो हजार वीह दरमियान भारत में मिलकर जो मॉरिशस के कोविड नाइन्टीन टुक्का में तो असर करे तैं हिकु लख टुक्का कोविशील्ड जा हुआ मॉरिशस सुखड़ी જેકે મોરિશિયસથી સુખડી जनवरी બાવીસ हज़ार બે હજાર ઇક્યોતેર તહેના नई दिल्ली કેસ એક લાખ कोविशील्ड બે लख कोवैक्सीन जहां टुक्का मॉरिशस के हिमाचल कराया भारत ने मॉरिशस से ई सीपीए यानी कि वसीय माली सहकार और व्यापारिक करार पे बारह फरवरी दो हजार इक्कीस से જોડવા વખતે भारत जी पाड़ी वजी डॉक्टर एस जयशंकर मॉरिशस यात्रा गई करार पहली अप्रैल दो हजार इक्कीस में अधिकारी अमल में जीयूआई मॉरिशस में भारतीय कंपनी ने तमाम ऋण स्लिप के लिए लगभग सौ मिलियन अमरीकी डॉलर ಕಾಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಎನ್ಇಸಿ ರೂಪಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಲಂದಾರಂತಿಯ ಬಿತ್ತರ್ಫು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ್ಬಾವಿಯ में पांच सौ चौवन एक नव मिलियन डॉलर हो भारत મોરિશસ કે ચહી बचाव બચાવ ઘણીવાર કરે પણ લેકિન જો કે प्लेटफार्म ओजारा सगा के अडाना गंजी मश्क करना हाइड्रोलॉजिकल सर्विस दो घोड़ों को जी मैसर कराई हुआ है भारतीय बचाव मंदारो के डेपुटेशन के तेंगेमान मार्शल से बचाव फौज ने भारत बस सौ तिरवंजा मिलियन अमेरिकन डॉलर जी मार्शल की इमदाद रही है खास माली पैकेज लाए पंजा ટેબ્લેટ્સ સ્કૂલે ಜೀವಾರಲ್ಲ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ जवाहरलाल नेहरू अस्पताल भारती अकेले अस्पताल राजीव गांधी साइंस मरकज स्वामी विवेकानंद आलमी कॉन्फ्रेंस मरकज आलमी हिंदी सदस्य श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनोवेटिव जी यानी कि अठे मार्च पर हजारे छवीह दरमियान यात्रा की जो बेटी मुल्क में नहीं मना रहे ॿारहीं मार्च जी भारतीय सदर और एज़ ए मुख्य मेहमान तौर वई हुई भारतीय तो जी तो तकरीबन में मिस्टर सी जी एस जी सदर श्री पृथ्वीराज सिंह रूपन ताताजी प्रधानमंत्री नवीन कुमार जगन्नाथ अलावा इन्हें पिता भारत में मॉरिशस में लंबे अरसे का दायमा रिश्ता रहे हैं ये अत्यंत वधिक पुख्ता थे थिंगराना जो भारत में हर क्षेत्र में सहकारी रहे खास करें मानव सामान जी लगा में आकाशवाणी जी सिंधी है आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस एक हज़ार एकहतरि ऐं सत हज़ार टे सौ असी किलोमीटर से ॿुधी रहिया आहियो आकाशवाणी जी Sindhi service news on air app ए डी डी फ्री डिश ते पिणु ॿुधी सघंदा आहियो पेश है भगत पेश कर रहे हैं प्रीतम साथी डालिए जाने ॻाल्हि ई कान थी शहर बंबोर जो सॼो सुञो लॻो पिया हिकिड़े मुंहिंजे कुनल खां सवाइ मां तव्हांखे हथ थी जोड़ियां वेनिती थी कयां त तव्हां हली करे मूंखे बचाइजो यार पर जे जेको जान बखे मां यार पर संगीत प्रोग्राम में मेरा प्रीतम फतल खान लेकिन जो सुन रहा है ये आकाशवाणी से सरासरी और इरफानी प्रोग्राम जो वक्त पुरुष रवि आसान मुलाकात Hindi Sudah sudah ini k i b a h a r i s m n g e t a h i seharusnya kita sudah menanyakan hal itu. Akashvani the news read by Abhishek Mukhopadhyay